उपनिषत्सुपद्मास्ते मयिषन्तु तृतीय खंड के प्रथम मंत्र के वाक्य भाष्य अवतरण पर विचार रहा था जिसमें काफी लंबा समय तक लंबे समय तक उसका विचार हुआ इसमें इस जीव को किस तरह से परमात्मा रूप में बना बनाया जा सकता है कैसे समझा जा सकता है सारा इस भाष्य में गांधी दिया हुआ है अगर ये इसी मंत्र का एक भाष्य सरल ढंग से कोई हृदयंगम कर सकता हो तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है इतना गंभीर है ये भाष्य ये नहीं केवल ऊपर ऊपर से सुनना और गैरविकास करना चाहिए हम अपना समय नष्ट करके आते हैं उसका सदुपयोग करना चाहिए और जब हम यहां से जाएं पाठ जरूर विचारना चाहिए जब तक पाठ बिगड़ेगा नहीं पुस्तक बंद कर दिया रख दिया तब तक ये पाठ कभी भी आने वाला नहीं पाठ मतलब देखे पर देखे क्या कहा था या क्या बोल रहे हैं कुछ देखे ऐसे करते करते समझने की एक शक्ति आएगी एकाएक कोई भी बच्चा दौड़ता नहीं है दूसरे के सहारे से दौड़ता है और एक दिन वो बहुत बड़ा माँ को भी उछल करके आगे जाता है ऐसा हो जाता है तो ध्यान से पढ़ना चाहिए थोड़ा समझना चाहिए समझ करके रखना चाहिए सुनो समझो करो जो श्रवण मन ध्यान जो तीन बातें बोलते हैं उसका अर्थ होता है सुनो और समझो और करो ये तीन चीजें हैं जो श्रवण मन ध्यान बार बार शब्द में आता है सुनने मात्र से नहीं होगा समझना ही पड़ेगा समझने के बाद उसे लग जाना होगा क्या कहा किस विषय की बात चल रही थी उसने हमें प्रवेश करना होगा तो केवल तो ऊपर ऊपर से बोलने मात्र से काम नहीं होता राजा अमित शब्दान राजा भूतवर हरी शंकराचार्य जी ने थोड़ा मैंने लिखा है किसी व्यक्ति को मैं राजा हूं कहना हो तो एक तो शत्रुओं का संहार करना होगा भूमंडल में जितने शत्रु बड़े हैं और जितने धरती का ऐश्वर्य है दोनों को प्राप्त करना होगा दोनों हो जाए शत्रु संहार और धरती का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो हूं धर्म की एक होता है वैसे यहां भी देहात्म बुद्धि हटा जो उसमें जब तक हम जा पहुंच नहीं पाते तब तक मैं ब्रह्म और धर्म से काम नहीं चलेगा क्योंकि काम नहीं चलेगा करके छोड़ना भी नहीं अपना मुख्य कार्य है वो हम जन्म मरण के चक्कर में पढ़ते पढ़ते पढ़ते अनेक जन्म हो दिया है अनादिकाल से अब की बात कम से कम थोड़ा समझ आ गई और हमें ऐसा परिवेश मिल गया है जिससे कि हमें कुछ समझने की सुनने की शक्ति मिल गई जिस परिवेश में न जाने आगे फिर कहाँ चक्कर काटना पहले कहाँ चक्कर काटना मुझे पता नहीं हो सकता है ऐसा प्रवेश मिले न मिले इसलिए द्वितीय खंड के आखिर में कहा था यह चीज अभी भी तथा सत्य मस्ती बड़े मुश्किल से मिला हुआ है ये अगर इसी में जान सका तो ठीक ठाक हो जाएगा नचे विहारे ये महती विनष्टि इसी में था हम पढ़ के आए हैं अगर इस शरीर में आकर भी उस तत्व को तो नहीं जान सका महान विनाश होगा अरे मतलब चौरासी के चक्कर में जाएगा यह है तो इसमें केवल श्रवण करके मात्र न सोए विचार करें और अपने उतारने की चेष्टा करें तभी काम होगा भोजन आए जाने मात्र से सुन लिया तो तृप्ति नहीं होगी भोजन के सामने जाना होगा और उसको अपने आत्मसात करना होगा तभी हमें तृप्ति की अनुभूति होगी तो ऐसे यहाँ भी है समझे तो अवतरण भाष्य पूरा हो गया इसका बहुत विचार हुआ विशेष विचार यही है पहले मीमांसकों के साथ विचार किया गया मीमांसक जो मानते थे वो सही नहीं निकला और उसके आगे जितने भी द्वैतवादी थे ईश्वरवादी हैं केंद्र जीव और परमात्मा को भेद मानते हैं ईश्वर को मानते हैं ठीक है किंतु भिन्न मानते हैं किंतु वेदांत अद्वैत वेदांत कहता है तो श्री हम ब्रह्माष्टमी आदि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों के आधार पर सूत्र विशिष्ट करके दिखाया है और भाष्यकार ने व्याख्या में उसकी पुष्टि की है अन्य श्रुतियां ला करके कर विश्वकम आत्मविद आदि पुण्य करके श्रुति है इसके द्वारा पुष्टि की है अद्वैत है माना द्वैतवादी भी श्रुति है अद्वैतवादी भी श्रुति है तो द्वैतवादी श्रुति व्यावहार दृष्टि को लेकर के है और अद्वैतवादी श्रुति पारमार्थिक दृष्टि को लेकर है जैसे जागृत स्वप्न में द्वैत होता है स्वर्ग नरक आदि सब कुछ है जब तक हम यहाँ से जगेंगे नहीं तब तक स्वर्ग भी है नरक भी है आवागमन भी है कोई ना कहे कि हमारा आगाव आवागमन नहीं है अगर ये शरीर से ऊपर हो जाए तो आपकी आवागमन नहीं होगी नहीं तो तब तक आवागमन रहेगा चलता रहेगा सब कुछ है स्वप्नों से बाहर आ जाते हैं तो स्वप्नों को हम मिथ्या समझते हैं स्वप्न में रहते रहते स्वप्न का मिथ्या होता है सत्य होता है प्यास लगी वहीं के पानी से प्यास बुझता है क्रियाकारिता वहां है कैसे उसको मिथ्या करेंगे उसका जल मतलब? सब कुछ है ठंडी लगती है कपड़ा ओढ़ते हैं किंतु ये कपड़े काम नहीं करेंगे वहां के कपड़े समसत्ता में विभाग होगा विषम सत्ता का प्रयोग कभी न करें व्यावहारिक सत्ता में बैठकर की बात न करें वहां पारमार्थिक लिए पारमार्थिक सत्ता में बैठे और व्यावहारिक सत्ता में ईश्वर भी है गुरु भी है शिष्य भी है सब है यहां से जिसमें आप जगह ना ये शरीर से ऊपर हो जाएंगे अभी आप शरीर का तादाद में करके बैठे तो व्यावहारिक सत्ता में आप तो इससे थोड़ा उठने का प्रयास करें ये भाष्य का तात्पर्य यही था अब मंत्रार्थ है मंत्रार्थ थोड़ा सा है कुछ दिन में ब्रह्म तेजेभ्य विजिज्ञे इत्यादि मंत्र था शायद आपको ख्याल होगा मंत्र तस् ब्रह्मो विजय देवा मही अमही अंत ते ऐक्षंत अयमेव अस्माक विजय अयम एवं अस्माकम मही में थी ऐसा मंत्र था माने पूर्व काल में बात है कि देवताओं और असुरों का संग्राम चल रहा था यह कहानी के रूप में है ये तृतीय खंड कहानी के रूप में है संग्राम चलता था वो परमात्मा अंतर्यामी है घटगटवासी हम बोलते हैं घट मैंने शरीर उसमें रहने वाला बोलते हैं मान्यता नहीं देते सच्चाई है घटगटवासी बोलते हैं कड़कड़ में परमात्मा है ये भी कड़कड़ में तो यहाँ नहीं है क्या जब कण में हो सकता है ये तो इतना बड़ा है इसमें नहीं होगा सर्वम फलोदम ब्रह्म ऐसा बोलता है भूल गई स्थिति वो सब ब्रह्म हो सकते हैं किंतु ये नहीं होगा क्या सबके अंतर्पात ये नहीं है क्या ये समझने की बात है तो <clears throat> एक इतिहास के रूप में है तो ब्रह्म बृहत्वा ब्रह्म सबसे बड़ा है व्यापक है इसलिए ब्रह्म कहते हैं बृह मोचा समाधि सूत्र है ब्रह्मी वृद्धव धातु है ब्रह्मी वृद्धव इकार इत तो हो जाएगा रहेगा ब्रह्म रहेगा और मम प्रत्यय होगा और ये तो ब्रह्मा में जो नकार दिखाई पड़ता अनुस्वार नकार का अनुस्वार बना हुआ है उसको आकार हो जाएगा अकार होगा तो ब्री अ ऐसा बनेगा याद करेंगे ब्रह आगे मन है ब्रह्म शब्द बना और प्रथम आय ब्रह्म यह नपुंसक लिंग है ब्रह्म देवे ऐसा ब्रह्म इति ऐतिह्यार्थ कहते हैं ब्रह्म शब्द आया ह प्रसिद्धि अर्थ में है एक इतिहास को बताने के लिए ऐतिह्य ये नहीं कि ब्रह्म नहीं है बात नहीं है शास्त्र में प्रसिद्ध है देवासुर संग्राम भी हुआ है उस परमात्मा अंतर्यामी होकर के देवताओं को सदबुद्धि दी असुरों की तरफ भी अंतर्यामी है किंतु वहां पर दुष्ट बुद्धि दी जिससे पराजित हो जाते हैं देवता लोग विजय प्राप्त हो जाते हैं तो ये विजय परमात्मा की है किंतु अभिमान करते हैं पिंड इसलिए देवताओं को मैं कुछ उनको दिखाना है परमात्मा ने एक विजय तुम्हारी नहीं है तो कोई और भी है ये समझना इसके लिए यहां कहानी शुरू करते हैं ब्रह्म इसे ऐतिहास इतिहास को बताने के लिए ये घटना घटी है इतिहास ऐसा ही था इसको बोलते हैं इतिहास इतिहास ऐसा है ऐसा ही था जो पुराणों में कहानी है ये कपोल कल मतलब वो भी था घटना घटी हुई है न जाने किस कल की है बात अलग है अनेक कल्प है घटी हुई है तो ब्रह्म इति ऐतिहास इतिहास के लिए है बात करें तो। कहानी आरंभ करने के लिए और कहानी शुरू करते हैं ये कहते हैं किसके लिए कहानी उस अंतर्यामी परमात्मा के विजय में पिंड में अभिमान करके देवता लोग हमारे हमारा विजय है हमारी महिमा है वो ऐसा समझने लग जाए तो पिंड में अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए जो भी अच्छा काम कोई होता है तो उस परमात्मा को श्रेय देना चाहिए अंतर्यामी कुछ विराजमान भीतर है ऐसे कहना इस कहानी का तात्पर्य है जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा से हुआ ऐसा समझना चाहिए कहने मात्र से नहीं होगा तो ब्रह्म यदि आए इतिहास को ताकत हम बताए बात किया ब्रह्म था क्यों देवताओं ने विजय प्राप्त किया पूरा किला पहले पूर्व काल की बात है देवासुर संग्राम है देवासुर संग्राम होता ही रहता है वास्तव में देवासुर संग्राम यही है हमारी इंद्रियों की जो दो प्रकार की वृत्तियां हैं कभी कभी शुभ वृत्ति बनती है और कभी कभी ज्यादातर हमें अशुभ वृत्तियां घेर डालती है ये देवासुर संग्राम लड़ाई चलती रहती है अध्यात्म में यही है और बाह्य अधिदैव में घटना घटी भी है देवता भी है असुर भी है अधिदैव में है वो और अध्यात्म में यही है हमारी इंद्रियों की जो वृत्ति है प्रवृत्ति है कभी शुभ वृत्ति कभी कभी होती है ज्यादातर अशुभ वृत्ति है हमेशा शुभ वृत्ति दबी हुई होती है अशुभ वृत्तियां दबाती है यही है यहाँ पूरा किला देवासुर संग्राम कहा प्रसिद्ध को दिखाने के किला होगा पहले पूर्व काल में देवासुर संग्राम में जगत स्थिति सया जगत की मर्यादा को पालन करने की इच्छुक होने भगवान क्योंकि इलाज ही धर्म से आपको पढ़ाई किताब में जगत की जो स्थिति है उसके परिपिप्याल ही है परिपालन तो इच्छा है परिपालन करने की इच्छा है उसकी रक्षा करने की इच्छा से परमात्मा आत्मा अनुशासन जो विद्यो देव अपने जो अनुशासन मानने वाले देवता आत्मा है स्वयं का स्वयं का परमात्मा अपने को अनुशासन में रहने वाले जो देवता है क्यों मैं दैवी वृत्ति जो होती है परमात्मा की तरफ मानती है आसुरी वृत्ति नहीं मानती है तो अपने जो अनुशासन अनुवर्ती देवता लोग हैं जो है अर्थित जो अवतार है वो संग्राम जीतना चाहते थे उनके लिए विजिज्ञ जीता परमात्मा ने के बिना ने सदबुद्धि दी यही है गीता के दस अध्याय में कहा अगर आप भगवान की तरफ होते हैं तो भगवान क्या देते हैं आपको बुद्धि योग देते हैं शपथ सतदुक्ता भजताम प्रीतिपूर्वकम दधाम बुद्धि योगम तम एरमा उपयान देते गीता के दशम अध्याय में कहा है निरंतर मेरे तरफ लगे हों विषय को चिंतन छोड़ करके मेरे चिंतन करने वालों मैं क्या देता हूं विषय नहीं देते भगवान नारायण जी ने चाहा था कुछ और मांग रहे थे किंतु और कुछ हो गया भगवान हित चाहते हैं आपको प्रिय नहीं होंगे श्रेय श्रेय और प्रिय से आप सुने हैं ना सुनेंगे श्रेय और प्रिय को सामने होते हैं जो अविवेकी है वो प्रिय पदार्थ को सामने तत्काल व्यवस्था देने वाले गुण से लेते हैं विषय को लेते हैं और ज्ञानी गुण श्रेय को लेते हैं स्वीकार करते हैं श्रेयस्थ प्रेयस मनुष्य में तो इत्यादि आएंगे तो देवता लोग अपने जो अनुशासन में रहने वाले हैं उनके लिए भी जीत गए जीता किसके लिए मैं जीता माने अंतर्यामी रूप से परमात्मा कोई शस्त्र लेकर नहीं आए वहां सबके भीतर हैं तो अंतर्यामी से बुद्धि योग भी है अच्छी बुद्धि भी वो बुद्धि के कारण से वो जीत पाए बुद्धि से भी जितना होता है बुद्धि रूप से जीत गए एक कहा विजिज्ञ मैंने अवैशिक लम लकार से कह दिया लेट लकार से वहां पर लेट लकार है और रूम लकार का प्रयोग कर दिया अवैशी जीता असुराम किसको जीता तो असुराम अजय से विजिज्ञ असुरों को जीता ये अर्थ है दानवों को जीता ब्राह्मण इच्छा मृत्यु विजयो बहुत बहुपत उस परमात्मा की इच्छा क्या इच्छा ही निमित्त है उस विजय में परमात्मा ने इच्छा की इनकी विजय हो जाए हो गया ब्रह्मण इच्छा मृत्यु विजयो देवानाम बहुपत देवताओं का जो विजय हुआ है उस परमात्मा की इच्छा से हुआ ये समझना तस्वीर ब्रह्म विजय देवा हमारी बनता जाया उस ब्रह्म के विजय में देवता लोग महिमानित हो गए अपने स्थान प्राप्त कर गए कहा असुरों ने बता दिया था उनको अपने स्थान प्राप्त हो गए उपलब्धि हो गई महिमा को प्राप्त हो गए ऐश्वर्य संपन्न हो गए यज्ञादि लोग स्थिति अपहारिशु असुरेशु पराजितेशु यज्ञादि जो लोग स्थिति है जब तृतीय अध्याय गीता में देखेंगे यज्ञ की बड़ी महिमा है अन्ना भवंती भूतानी पर्जन्यान संभव यज्ञा भगवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव धर्म ब्रह्मो भवन विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात सर्वप्रथम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित गीता के तृतीय अध्याय में है आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते हैं तो छोड़ दो उसको गैर अंदाज कर देते हैं पेपर आदि पढ़ने में अच्छा लगता है क्या तत्काल सूचना मिलती है बहुत कुछ होता है तो असुराम जितना मैंने क्या हुआ ब्रह्म इच्छा निमित्त तो विजय देवान भोग था ब्रह्म की इच्छा निमित्त इच्छा ही निमित्त है उस विजय में ऐसा तस्य ब्रह्म को विजय अमहिता और देवता लोग महिमानित हो गए सम्मानित हो गए मान यज्ञानी लोग स्थिति अपहारेशु असुरेशु अभाजितेशु यज्ञादि जो स्थिति है जगत के पालन में यज्ञादि की आवश्यकता है नहीं तो जगत मर्यादा चलने वाली है यज्ञानी होना चाहिए नहीं तो चलने वाले नहीं ये जो यज्ञानी लोक स्थिति है यज्ञ दाम का पारी ये जो लोग की मर्यादा है उसके अपहरण करने वाले जो असुर हैं अपहारेशु असुरेशु पराजितेशु उनके पराजित हो जाने पर देवा पूजा पूजाम्बा प्राप्त होता वृद्धि को प्राप्त हो गया अथवा सम्मानित हो गए उनके बर्तन आ गया अथवा सम्मानित हो गए मेहमान हो गए ये स्थिति है किंतु देवताओं में अगले मंत्र में दिखाएंगे घमंड आ जाता है माने हम यही है कुछ अच्छा काम कभी होता है तो मैंने किया और कुछ गलत हो जाए तब उधर देना चाहते हैं हमारी ऐसी इच्छा होती है किंतु तो ऐसा नहीं होना चाहिए या तो सुबह सुभाषुभ दोनों को अर्पित कर दीजिए सुभाषुभ अलग एवं मोक्ष से कर्मबंधन दोनों देशों दे, देश को किंतु एक को देना चाहते हैं एक को रखना चाहते हैं ये गलत है पूर्व ताज में जगत स्थिति परिपिला सया जगत मर्यादा परिरक्षण मिलता है जगत की मर्यादा का परिरक्षा करने के इच्छुक है नाम पर इसलिए उन्होंने ऐसे देवताओं की तरफ विजय प्राप्त करा दिया अच्छी बुद्धि भी कहा क्योंकि जगत की स्थिति कैसी समलेगी कहा देवाही निरातंका संतो आतंकवाद से रहित होंगे देवता लोग निरातंका संतो देवा का धर्म मर्यादाम धर्माश्रमान धर्मोत्तम रक्षिष्यम यही परमात्मा की इच्छा थी देवता लोग जो आतंकवाद से शून्य हो जाएंगे रहित हो जाएंगे निरातंकों के सब रहित हो जाएंगे ऐसी स्थिति में वेदों को जो जगत की मर्यादा है वेद में जगत की जो पालन के लिए क्या क्या कहा यज्ञानी है यज्ञ दान जो भी साधन है इनका वर्णाश्रम धर्म रूपान कौन सी मर्यादा है वर्णाश्रम धर्म के पालन करवाना करना ये रक्षा करेंगे ये सोच करके हमको अच्छी बुद्धि दी थी स्वयं ले कहते हैं असुर स्वातंत्र हेतु अगर जब असुर लाभ होगा असुर लोग स्वतंत्र प्राप्त करेंगे उस स्थिति में तो निर्मर्या निर्मर्यादा में भविष्य मर्यादा रहित हो जाता है कई कहानियां सुनी हमने कंस के जवान रावण के जवान शिशुपाल आदि के जवान कहानी सुनी हुई है क्या स्थिति रही उस काल में स्थिति हो जाती है इसलिए उनको विजय प्राप्त कराया कि जगत की रक्षा करेंगे करके जो लोगों को अभिमान हो गया ये स्थिति है आगे चौरासी पृष्ठ में मंत्र होगा तत्म तब ब्रह्मा वो जो ब्रह्म है जिसने यज्ञ में उनको विजय प्राप्त करवाया था जिस परमात्मा ने अंतरियामी बन करके अंतर्यामी तो है ये वो सबके घर में है अच्छी बुद्धि भी जिसे विजय हुआ तब मैं ब्रह्म नपुंसक है इसलिए तब था वो ब्रह्म येषाम ये शाम अभिप्राय विजय इनके अभिप्राय समझ गए क्या अभिप्राय है कि हमारा विजय है हमारी महिमा है हम लड़े हमारा पुरुषार्थ है ऐसा इसके अभिप्राय को समझते देवताओं का येषाम देवानाम विजज्ञ अभिप्राय विजज्ञ अभिप्राय को जान लिया ज्ञान रहे है ना लिप्तकार विजज्ञ देवदेव होगा उन्हीं के लिए वो अभिमान दूर कराने की दृष्टि से उन्हीं के थोड़ी दूर पर भगवान को कोई माता पिता आदि की जरूरत रहे तो जब जरूरत हो यदा यदा ही धर्म से कहा है यदा जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब ऐसा कहा तेभ्यो ऐसे उनके सामने ही नजदीक में ही वो प्रकट हो गए परमात्मा मैंने एक साकार मूर्ति के रूप में दिखाई दिए तब न वेदांत तब ब्रह्मा देवा न वेदांत देवता लोग नहीं जान सके वो ब्रह्म को तब माने द्वितीयांग तब ब्रह्म उस ब्रह्म को न वेदांत देवा न वेदांत देवता लोग नहीं जान सके किम इधर यक्ष मिट्टी यक्ष पूजा धातु है सम्मानीय व्यक्ति के रूप में दिखाई दिया बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बहुत पूज्य व्यक्ति दिखाई दिया जो सम्मानीय व्यक्ति होता है दूर से देखने पर ही पता लग जाता है तो उसे लोग भूल जाते हैं तो सम्मानीय रूप में दिखाई रहा सामने एक दृश्य आया तो किम यक्ष न न का ये यक्ष पूज्य पूजने को यक्ष बोलते हैं यक्ष पूजा धातु ही है तो ये यक्ष क्या है इरम यक्षम किम ये यक्ष क्या चीज है यक्ष नपुंसक नहीं है ये यक्ष क्या है सामने एक तो उनके मन में कुछ भय भी हो गया भय इसलिए हो गया बड़े मुश्किल से अभी अभी एक लड़ाई से बाहर हो गए और दूसरा फिर सामने खड़ा दिख रहा है नजारे फिर क्या करने आया वो भय भी हो सकता है तो ये पता नहीं कि हमने अभिमान किया उसका दंड देने आया ये पता नहीं हमको ऐसे कि मेरा यक्ष नहीं ये यक्ष क्या है ऐसा नहीं जान सके लोग ये कहा पर राष्ट्र देखिए एवं मिथ्या अभिमान इक्षावता इस प्रकार जो मिथ्या अभिमान को ईक्षण करने वाले विचार करने वाले लोग थे मिथ्या अभिमान ये कहा अस्माकम ये विजय अस्माकम निमित्त यही पूर्व मंत्र मतलब है कि विजय हमारे है हमारी विजय है और हमारी नहीं है हमने जीता है हमने अपने पुरुषार्थ से जीता है दूसरा कोई व्यक्ति साथ नहीं दिया मैं अकेला रहा ऐसी भावना मैं ना शरीर को लेकर के इस प्रकार जो मिथ्या अभिमान को विचार करने वाले लोग थे इच्छा दर्शन रहते थे इच्छा इच्छा हम देखने वाले जो लोग थे अभिमान शरीर को ही विजय प्राप्त करने का साधन समझा उन्होंने उनके सामने तब ब्रह्म विजय इनके अभिप्राय को जान लिया ये शाम विजय इनको जान तथा किला ये शाम मिथ्या लक्षण विजय तद ब्रह्म और ब्रह्म ने इनका जो मिथ्या अभिमान था मिथ्या उसका मिथ्या विचार था इनका झूठा विचार पिंड कभी जीत नहीं सकता जब तक बुद्धि सही न हो तो जीत नहीं सकता पहले बनाने क्यों नहीं जीता अब की बात क्यों जीता हो वही शरीर था काम कर वो बुद्धि से काम करता बुद्धि जैसे बलम तस् निर्बुद्धि से कुतो बलम बने सिंहो मदोन्मत सशके में निभा पंचतंत्र में जिसकी बुद्धि है उसी के पास बल है शारीरिक बल बल नहीं है निर्बुद्धि से कुतो बल उनको निर्बुद्धि व्यक्ति उसको बल कहा है क्योंकि वन में जो वन का राजा सिंह को खरगोश ने तो कुएं में डाल दिया क्या खरगोश लड़ाई करके डाल सकता क्या नहीं बुद्धि से युक्ति लड़ाई ऐसा अपने खुद पढ़ाओ खरगोश बातों में आ करके बुद्धि रेस बलम तस्य ऐसा तद येषाम मिथ्या ईक्षण विजज्ञ तद ब्रह्म वो ब्रह्म इनके जो मिथ्या अभिमान था विचार था उसको समझ लिया ब्रह्म ने समझ लिया जान लिया इनको मिथ्या अभिमान हो गया है इनको कुछ करना पड़ेगा ये जान लिया सर्व इक्षित ही सबका ईक्षण करने वाला है वो सबको जानता है आप दिन में करें रात में करें प्रत्येक इंद्रियों को जान रहा है कुछ तो सही है कि गलत है काम कर रही नहीं कर रही प्रत्येक शरीर में कौन सा पूरा है सबको जान रहा है प्राण भूखा है कि प्यासा है पता है मन किधर भाग रहा है पता है सबको जानता है ये नहीं कि आपको केवल जानता हो सबको जानने वाला है सर्व इक्षित्री सबके इच्छा करता है हाँ, परमात्मा ऐसा अच्छा है सबके विचार मन देखने वाला है सबको देखता है क्या कर रहा है उस समय तुम बोलता नहीं करने देता है बाद में फल के फल के समय पता लगेगा आपको क्रिया में स्वतंत्र है सिर्फ फल होने के लिए स्वतंत्र है और क्रिया में भी गलत क्रिया से निवृत्ति करने के लिए शास्त्र बना दिया है परमात्मा का ही वाणी है शास्त्र शास्त्र बना रखा है ये नहीं करना ऐसा नहीं मानता ठीक है तो सर्व इक्षित ही वो ही माने यशमान सर्व इक्षित वो सबका इक्षित ये क्षण करने वाला है सबको दर्शन कर देखता है वो परमात्मा ऐसा है सर्व तब सर्वभूत का प्रयोग कृत्व वो संपूर्ण प्राणी मात्र के इंद्रियों का प्रयोगता है आप हमारे अधीन है आपके अधीन हम नहीं है मन हमारा अधीन है जिधर लगना चाहे उसको लगना पड़ेगा ऐसे हर चीज हमारे अधीन है किंतु हम गलत दुरुपयोग कर दिया हम उनके अधीन हो गए तो साधन है हमारे कुछ काम करने के साधन है साधन को हमने दुरुपयोग कर रखा है बात इतनी है ये कहते हैं तब मैंने ब्रह्म सर्वभूत कारण प्रयोग करता संपूर्ण प्राणी मात्र के जो कर्ण है इंद्रिया है प्राण आदि जो भी कर्ण है चाहे बाह्य कर्ण हो चाहे अंतकरण हो सबका वो प्रयोगता है इसलिए वो ब्रह्म ने जान लिया इनके क्या हो गया क्या अभिमान हो गया समझ गया था देवाराम से मिथ्या ज्ञान उपलब्ध देवताओं को मिथ्या ज्ञान हो गया था अस्मागम विजय अस्मागम थी अस्मागम ने पिंड शरीर का अभिमान हो गया था तो देवानाम मिथ्या अभिमान उपनोदन है देवानाम से मिथ्या ज्ञान उपलब्ध है देवताओं को झूठा ज्ञान हो गया है गलत ज्ञान हो गया मैंने शरीर ने जीता ही लड़ाई ऐसी समझ में आ गई ये समझकर प्राप्त हो गया तो मामा को मां एवं तो असुरगत देवा मिथ्या विमान पराभव जैसे मिथ्या विमान के कारण असुर पराजित हो गए लड़ाई में इस प्रकार देवता का कभी दोबारा पराजित न हो जाए परमात्मा को सोचना था क्यों तो देवता फिर पराजित होंगे तो असुर का राज चलेगा फिर जगत की मर्यादा नहीं होगी परमात्मा को मन देवादी के माध्यम से जगत की मर्यादा रखनी है पालन करवाना मुश्किल लिए कहा मार एवं असुरवत जैसे असुर लोग पराजित हो गए उसी प्रकार ये देवता लोग मिथ्याभिमान उनको जैसे मिथ्याभिमान से पराजित हुए हैं उसी प्रकार ये ना पड़ा गुरु देवता लोग पराजित न हो जाए इसको यदि तब अनुपम गया पेशा अनुपम पाता तद अनुपम था उनके ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा ने देवान मिथ्या मिथ्याभिमान अपरोधरेण अनुग्रणा अनुगृहणीयाम ये देवताओं का जो मिथ्याभिमान है शरीर में शारीरिक बल से हमने लड़ाई जीता का अभिमान है उसको हटा करके हटाने के माध्यम से मैं अनुग्रह करता हूं उनके ऊपर कृपा करता हूं करूं ऐसा सोचकर तेव्य किला अर्थ आया उन्हीं के लिए तेव्य ना तादर्थन चतुर्थी उन्हीं के लिए देवताओं के लिए ही केवल अर्थाय प्रादुर्भव ब्रह्म प्रकट हो गए कहा कैसे प्रकट हो गए कोई साधन के बिना कोई यहां पर प्रकट हुआ देखता नहीं है और तत्काल कैसे पैदा हो क्या साधन रहा होगा सब कहते हैं स्वयोग महात्मा निर्मित निमित्त नाम निर्मित नाम का अपने योग योग माने स्वयोग माया है महा माया है उसके सहारे से तुरंत हो गए जैसा सोचा वैसे हो गए स्वयोग अपने योग है माया माया शक्ति परमात्मा की योग है स्वयोग महात्मा उसकी जो महिमा है अघटन घटना अघटित घटना पटी जो नहीं होना चाहिए हो जाता है उसी एक क्षण में वहां इतना बड़ा व्यक्ति खड़ा कर हो गया हाँ, अरे कुछ कर ले बस कर दिया इस सोलह को तो महात्मा निर्मित देना अपने माने अपना योग जो महामाया उसके महिमा से निर्मित शरीर अद्भुत आश्चर्यजनक शरीर था अद्भुत विस्मार भी है आश्चर्य में डालने वाला स्वरूप शरीर था वो देवता लोग सब आश्चर्य रूपेण आश्चर्य स्वरूप के द्वारा देवानाम इंद्रिय को चाहे प्रारूप करो देवता लोग यहाँ खुशियाली मना रहे थे पटाखे पुटाखे फोड़ रहे थे तो उनके जो इंद्रिय का विषय बन जाए थोड़ा दूर में है किंतु दिखाई पड़े ऐसे सामने प्रकट हो गए परमात्मा माया शक्ति के द्वारा तुरंत प्रकट हो गए ये कहा इंद्रिय चाहे एक नंबर की टिप्पणी इंद्रिय सन्निकर्ष योग्य देश है जहां पर मैंने चक्षुरादि इंद्रियों का सन्निकर्ष हो सकता है ऐसे देश में बहुत दूर भी नहीं है और बहुत नजदीक भी नहीं है ऐसा प्रकट हो गए प्रारूतम प्रारूभूतम ब्रह्म प्रारूभूत हुआ अपने प्रकट हुआ जो ब्रह्म है न वेदांत उस ब्रह्म को नहीं जान सकते देवा न वेदांत तब ब्रह्म या दिव्यांत है उस ब्रह्म को नहीं जान सके देवता लोग न विद्या ब्रह्म जो देवा देवता लोग नहीं जान सके केवलम यक्षम पूज्यम महत्वपूर्ण ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है ये यक्षम पूज्य क्या है ये महान आश्चर्य डालने वाले तत्व क्या है महान सत्व वाले व्यक्ति कौन है ऐसे आश्चर्य पड़ गए कहा टिप्पणियां दो तीन कहते तरीरम यक्षम तो यक्ष कैसा है कहते यक्ष पूजा है नित्य का ही है यक्ष धातु है सम्मान अर्थ पूजा अर्थ है उससे कर्म में भय कर्ता में भय नहीं कर्म में भय पूजनीय को पूज्य कहा गया भय प्रत्येक करेंगे भय का आधार यक्ष बन जाएगा ये कहा इसी अभिप्राय से कहा यक्षम हम पूज्यम यक्ष पूजा है धातु का बता दिया जो पूजन ही है कहा भूतम है शब्दों में जो सामने खड़ा व्यक्ति है अस्तित्व दिखाई पड़ा ये कौन है वो लोग नहीं जान सके ये कहा ठीक है तो शरीर को महात्मा निर्मित देना ये भाष्य बना परमात्मा ने तत्काल एक शरीर बना दिया किसे बनाया अपने ही योग के महात्मा से निर्मित शरीर बनाया ठीक है कोई साधन के बिना कोई साधन ही नहीं दिखता है इंद्रजाल जो शरीर बनाता है कुछ बनाता है क्या साधन रखता है वो जादूगर जो बनाता है तो क्या साधन होता है उस वस्ती से कैसे अपना देता है शाम दर्शकों के सामने क्या क्या खड़ा कर देता है एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो संपूर्ण तीनों लोगों का जादूगर है तो उसके लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है सामान्य इंद्रजाल इंद्रजालिक जो व्यक्ति है जादूगर जो होता है वो क्या क्या हमारे सामने दिखा देता है जो होना नहीं चाहिए ऐसे दिखाई देता है वही व्यक्ति अकेला व्यक्ति दो हो जाता है ऐसा दिखाई पड़ता है वही जादूगर एक या धरती पर बैठा हुआ है और एक धागा छोड़ करके धागा में जा रहा ऊपर को धागा में आप ऊपर जा सकते हैं क्या धागा ऊपर जा रहा है और उसके सहारे से लटक करके जादूगर ऊपर गया ऐसे कुछ दिखाई पड़ता है और ऊपर जाने के बाद गायब हो जाता है गायब हुआ तो फिर आपके शस्त्राणी का आवाज आने लग जाएंगे बहुत भारी लड़ाई हो रही है ऊपर ऐसा लगता है किंतु होता है कुछ और बाद में फिर वो ये कि करे नीचे बैठा हुआ एक ही मिलता है वो स्वयोग महिमा ऐसे होती है ये बताया जाता है स्वयोग में महात्मा ने भी माने सबको तमसाम प्रयाम गुणाम योगा स्वयोग अपना योग क्या है तीन गुणों का जो संबंध है सतगुण रजगुण तमगुण इसे तीनों गुणों के सामने अवस्था को प्रकृति कहते हैं महामाया बोलते यही तो है तो सत्पुरज तमसाम त्रयाणाम गुणाणाम योग ये योग युक्ति घटन माया यही है मैंने कुछ घटना करने वाली तीनों को मिलाने वाली जैसे चाहिए वैसे बना देना सतगुण का कार्य करना है या रजगुण वाला है तमगुण वाला है ऐसे करने वाली तत्व है जैसे परमात्मा को जब जरूरत हो उसी तो काल में तक्षण तैयार कर देती है उसी का नाम है सहयोग महात्मा कहा एक दो की टिप्पणी योगों में संबंध मात्र में केवल संबंध नहीं समझ रहे भूतल और घर का संबंध ऐसा योग मत समझना योग शब्द का है योगों में संबंध मात्र तेषाम तीनों लोगों का संबंध मात्र को योग नहीं कहा और कुछ यहां विशेष लेना होगा तेषाम गुणानाम योगों में संबंध मात्र तीनों गुणों को संबंध होना मात्र योग नहीं तस्य सदातन तीनों संबंध तो हमेशा होगा तीनों गुणों का कभी विश्लेष होता है हमेशा रहते हैं वो हाँ दो दब जाते हैं विशेष काल में एक विशेष रूप में दिखाई देता है इतना है रजतम तमस्या तुम रजत सदा ऐसा रहते हैं गीता के सप्र अध्याय में बहुत कुछ कहा है गुणों के बारे में चतुर्दश <clears throat> अध्याय में कहा है तस्य सवातनत्व तस्वीर गुण से सवातनत्व गुण सब हमेशा ही है तो उनका योग होना संबंध नहीं योग माने कभी हो कभी ना हो उनका संबंध होता है या संबंध मात्र तो नहीं समझना एक कहा तस्य सदातन संबंध से जो ये गुणों का संबंध है तस्वीर संबंध से सदातन है इसलिए तादृश विचित्र रूप से अभी एक कथा तो है जब तीनों योग तीनों गुणों का संबंध है तो वो विचित्र रूप ही हमेशा होना चाहिए अभी अभी जो खड़ा हुआ रूप हमेशा होना चाहिए किंतु हो नहीं रहा है इसलिए संबंध यहाँ पर योग शब्द का केवल संबंध मात्र नहीं करना पर कोई विशेष आदमी करना इसलिए कहा यो योगा युक्ति घटनम युक्ति घटना ये कहा क्या घटना है तो काम विषय उसी युक्ति का विशेषण विस्तार करते तो घटनाम कहना गुण प्रधान भावे न विवर्तन यही घटना है जैसे अपेक्षा जिस देश में जिस काल में जैसी जरूरत है उस तरह से गुण प्रधान भाव हो जाता है गुण क्या हो जाता है एक गुण मुख्य बनेगा दो गुण गौण बन जाते हैं गुण प्रधान भाव हो जाते हैं यही है यहाँ योग शब्द का गुण तो हमेशा ही है ठीक है यथापेक्षा गुण प्रधान का है ना विवर्तन विधिया यथा जैसी अपेक्षा है जिस देश में जिस कारण की जरूरत है जैसे द्रौपदी के वस्त्र अपहरण के समय में क्या रूप बना दिया वस्त्र रूप बना दिया ऐसा मैंने किसके द्वारा वो स्वयोग आत्मनिर्भित रूप था वो मेरी इच्छा मेरी तनो माया गुण गोपाल आप लोग बोलते हैं वैसे ही तो गुण प्रधान होता है ना एक गुणों का ज्ञान योग संबंध का था एक गुण प्रधान भाव से जिस अवस्था में जो जरूरत है वैसा बन जाओ हो जाओ साथ माया वो माया ऐसी है जो गुणों को परिवर्तन करने वाली जो माया शक्ति है जब चाहिए जैसा चाहिए वैसे बनाने वाली माया सात माया ही इंद्रजाली को यथा इंद्रजाली जैसे इंद्रजाली व्यक्ति होता है जादूगर होता है लोग में उसी प्रकार की है वो यहां ये ऐन्द्रजाली का तो इंद्रजाल दिखाने वाले को ऐन्द्रजाली का बोलते हैं इंद्रजाल का जब वो दिखाने वाला ऐन्द्रजाली का वो है जैसे पीसी सरकार आदि प्रसिद्ध रहे कलकत्ता में ऐसा सुना है तो साच माया यथा ही ऐन्द्रजाली को राजशादी पर पदार्थान क्रमकार विन्यासादि में रहे कुछ उसके पास कुछ होते हैं चाहे राजस पदार्थ है सात्विक पदार्थ है या तामसिक पदार्थ कुछ होंगे उनको इधर उधर करने की कला है उसमें कभी कम गुण वाले का इधर करेगा कभी रज गुण वाले इधर करेगा कभी सदगुण वाला इधर करेगा ठीक है क्रम और काल को लेकर के किस काल में और किस क्रम से बनाना है राजस को पहले रखना है कि तामस को पहले रखना है किस द्रव्य को पहले रखना वो जानता है कला जानता है ठीक है यहाँ ये ऐन्द्रजाली को राजशादी कभी कई पदार्थान पर कुछ पदार्थों को रखता है कुछ भी सांप दिखाता है कुछ दिन का उठाया जरूर होगा उसमें हमें सांप कुछ भी नहीं होगा बिना अधिष्ठान की कल्पना नहीं होगी अधिष्ठान होगा उसको कुछ करता है तो राजशादी कोई कतिपय प्रावधान क्रम काल विन्यास आदि क्रम का विन्यास क्रम को देख करके के कैसा करना है और समय का विन्यास किस समय क्या करना है उसके द्वारा यदि घटाई जोड़ करके घटना करके नाना विचित प्रावधान दर्शन नाना प्रकार के विषयों बना के दिखा देता है वो दर्शन माया पड़ोसी चलिकर माया करता है ऐसा बोलते क्या बोलते हैं जादू करता है माया करता है ऐसा बोलते हैं ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा की परमात्मा के पास जैसे ही है उन्होंने सोचा हो गया शरीर हो गया ये कहा हो गया ना और शरीर वाक्य भाष्य के लिए चलिए तो देहक्षांत ऐसा मंत्र जब उन्होंने विचार किया मिथ्या प्रत्येक ये जो पूर्व हम कहते हैं अक्षमता अस्माकम जो अस्माकम नैवेद्य था उसी को प्रतिक्रिया दिया मिथ्या प्रत्यय था उन्होंने झूठा ज्ञान हो गया था उनको प्रत्यय मन मतलब ज्ञान झूठा ज्ञान हो गया था कि हमारा विजय है हमारी विजय है हमारी महिमा का सब ज्ञान था मिथ्या मिथ्या प्रत्यय था उनका जो मिथ्या इक्षण था विज्ञान था हेय को क्या बना था हेय को त्याज्यत्व यहाँ दिखाना चाहते हैं गलत है उनकी धारणा गलत हुई थी इसके लिए ब्रह्म को प्रकट होना पड़ा साकार बन के दिखाना पड़ा उनके सामने ये कहा आमना है कहा तब दैशाम इत्यादि ब्रह्म प्रादुर्भाव विषय आमनाय आया तब दैशाम इत्यादि जो द्वितीय मत है ब्रह्म के प्रादुर्भाव को विषय करने वाले जो आमनाय शब्द है वो इसलिए है कहा अच्छा आगे कहते हैं ठीक हैं से ऐक्षण का इति देवानाम ईक्षण देवताओं का जो ईक्षण है ना मिथ्या प्रत्यय हुआ तो मिथ्या गलत हुआ गलत भावना हो गई है हमारे लिए हमारी महिमा करके मिथ्या प्रत्यय हुआ मिथ्याभिमान से हेयत्व क्या बना मिथ्या प्रत्यय को त्यागना चाहिए ये दिखाना चाहते हैं उनको मिथ्या ज्ञान हो गया है उसको हटाना चाहिए इसके लिए ब्रह्म प्रादुर्भाव ब्रह्म का प्रादुर्भाव का मुख्य लक्ष्य मान प्रयोजन यही था श्लोकम इधम व्याख्या ये श्लोक वाक्य संक्षेप वाक्य है क्या तेरा एक्शन देते मिथ्या प्रत्यय ज्ञापना था माया जो काम भाष्य में इस संग्रह वाक्य था इसी के आगे व्याख्या करते हैं भाष्य में ईश्वर निमित्त विजय जो भी विजय हासिल हुआ है वो ईश्वर निमित्त है वहां परमात्मा निमित्त है अंतरिया रूप से परमात्मा ने शक्ति दी है बुद्धि भी दरामी बुद्धि योग बुद्धि होगी दिया उसी कारण विजय प्राप्त कर गए तो विजय स्व तो सामर्थ्य निमित्त तो उन्होंने अपने शक्ति के सामर्थ्य से निमित्त मान लिया हमारे शक्ति से लड़ाई जीते हैं हमारे बल पर जैसे आर्थिक का बल होता है वैसे हमारे बल था ऐसा स्व मान शरीर शरीर सामर्थ्य है स्व होता था शरीर जो इंद्रादी करके जो अभिमान हो रहा है स्व सामर्थ्य निमित्त अस्मात अयम विजय ये जो विजय हुआ है हमारा है और अस्मात में महिमा ये महिमा हमारी है ऐसा समझ गए आत्मा जयादि श्रेय निमित्तम सर्व आत्मान आत्मा आत्मान आत्मस्थम सर्वात्मान आत्मस्थम स्वयं ईश्वर देव आत्मत्वेन पिंड मात्रा विमान संतो यम मिथ्या प्रत्यय सभु तस् पिंड मात्र विषय मिथ्या प्रत्यय सर्वात्मा ईश्वर यथात्मा अवरोधन हापत्यताख्यापदार्थ तब तैसाम इत्यादि आख्यायिका आमनाय ऐसा वाक्य बनाया है ईश्वर निमित्त विजय है जो विजय हुआ है ईश्वर निमित्त अंतर्याम रूप से ईश्वर ने उनको सदा बुद्धि दी स्व सामर्थ्य निमित्त उन्होंने समझा शरीर के सामर्थ्य स्वपर से शरीर को लेना इंद्रादी जो देवता माने जाते हैं तो स्व सामर्थ्य निमित्त अपने सामर्थ्य के निमित्त है अपने सामर्थ्य से हमने दिला अस्मार्थ भय विजय अस्मार्थ महिमा इत्यादि समझाऊंगी यदि आत्मा जयादि श्रेय निमित्तम जयादि श्रेय का जो निमित्त था आत्मा निमित्त मान अपने जो विजय के अपना मान शरीर आत्मा मान शरीर उसके जयादि का जो श्रेय का निमित्त है सर्वात्मान जो सर्वात्मा को भूल गए सर्वात्मान आत्मस्तम अपने शरीर में आत्मनिष्ठित आत्मस्तम अपने स्थित है परमात्मा सर्वकल्याण वो सबको कल्याण करने वाले हैं परमात्मा की स्थिति है सर्व संपूर्ण कल्याण का आश्रय गुण ईश्वर एवं आत्मत्व उस ईश्वर को आत्म रूप से समझ नहीं पाए वो तो शरीर को आत्म समझ गए ये कहा अब उद्वा पिंड मात्र अभिमान संभव उन्होंने पिंड शरीर में ही अभिमान रखने वाले हो गए जिसको इंद्रादि बोलते हैं आदि वाले को इंद्र बोलते हैं ऐसा जिसका नाम आता है अभिगणना समता पिंड मात्र में अभिमान रखते हुए यम मिथ्या प्रत्यम सर्व जिस मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हुई देवता लोग किया अस्मात में विजय अस्मान में मांगे थे तो ऐसे मिथ्या ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने तस् पिंड मात्र विषय थे तो ज्ञान का विषय पिंड मात्र होता है शरीर शरीर को विषय करता है तस्व ज्ञान से प्रत्यक्ष उस प्रत्यय का पिंड मात्र विषय कोई इंद्रादी शरीर को ही विषय करता है इसलिए मिथ्या प्रत्यय झूठा ज्ञान माना जाता है वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है झूठा ज्ञान है मिथ्या ज्ञान होने से सर्वात्म ईश्वर यथार्थ अवबोध है परमात्मा विचार है जो सर्वात्म ईश्वर है अंतर्यामी रूप से घर घर में निवासी है जो इंद्र सब इंद्र व्यक्ति के भी भीतर है अग्नि के भीतर वायु के भीतर सबके भीतर है उसको यथार्थ ज्ञान के द्वारा यथार्थ ज्ञान के द्वारा उसके यथार्थ ज्ञान को भी बताएगी ब्रह्म विद्या पूर्ण रूप से बताएगी जब प्रखंड जब पढ़ेंगे तो उसे पता लग जाएगा आपको तो का आत्मा का जो स्वरूप है जिसके निमित्त से विजय प्राप्त हुआ है उसके ज्ञान के द्वारा हापत्य क्या होना मिथ्याभिमान घापत्य मिथ्याभिमान को त्यागना चाहिए वहां त्यागे इसी उपरांत कथन के लिए तब तत्दैशाम इत्यादि आख्यायिका इसलिए तत्दैशाम विजय इत्यादि कहानी कथन होता है शुरू होता है कहा तब ऐसा हमारे आप मंत्र का अर्थ करने वाले तो अभिप्राय बता रहे थे तब मैंने ब्रह्म वो ब्रह्म हर हाँ, किला प्रसिद्ध है ऐसा आम देवता नाम ना सुधा अवसर देवता देवता देवता नाम ऐसा देवता नाम इन देवताओं का अभिप्राय अभिप्राय समझ गया क्या है मिथ्या अहंकार रूपम मैंने पिंड अहंकार रूप है अस्मात्म जो अस्मात्म नहीं है इसको वो ब्रह्म ने समझ लिया विजय विज्ञान का मिथ्या अहंकार स्वरूप जो अभिमान है उनका उसको समझ लिया ब्रह्म ने भी समझ जाता है परमात्मा किंतु आप गैर अंदाज करते हैं विषयों में आपकी आसक्ति के कारण आप दूसरी तरफ हो जाते हैं कभी भी आपने सोचा होगा कभी अनुभव किया होगा जब कोई गलत काम करने का प्रसंग आता है एक बार भीतर से नकार होता है वो परमात्मा का शब्द है किंतु आप विषयों को लोलुप होकर के काम उसको गैर अंदाज करके विषयों की तरफ प्रवेश कर जाते हैं स्थिति हो जाती है जो तो गलत कर्म के समय में एक बार अपने आप भीतर से न बोलता है तो परमात्मा का ही शब्द होता है किंतु इतनी राग है इतनी आसक्ति है विषयों में अब उससे बिना हमारे जीवन नहीं रहना ऐसी स्थिति हो जाती है जितने हम आसक्त हो जाते हैं जिस कारण हम उसको गैर अंदाज कर देते हैं कर करके लग जाते हैं वो परमात्मा ज्ञान रूप से उपदेश दे रहे हैं ठीक है तो उन्होंने समझ लिया उनका अभिमान को समझ लिया ज्ञापवा कर समझने के बाद में कुछ क्रिया भी करने लगे परमात्मा ने ज्ञापवा कर उनके अभिमान को जानकर मिथ्याभिमान साधन तब अंतरिक्षया तेभ्यो देवेभ्यो अर्थाय गोचरे नाभि जान करके मिथ्याभिमान को नष्ट करना या तात्प्रयोजन तो इतना ही है ये अस्मादम में जो अस्मादम महीने की पिंड को लेकर जो उनके अनुमान बहुत उच्च उच्च करना उस अनुमान को ज्ञान का मिथ्या अनुमान साधने सत्य में अनुमान को नष्ट करें माध्यम से नाश के माध्यम से तब अनुतिक्षा पेशा अनुतिक्षा तब अनुतिक्षा उनके ऊपर कृपा करने के लिए अनुग्रह करने के लिए अनुग्रहितों की इच्छा जिग्रीक्षा अनुजिग्रीक्षा अनुग्रह करने की इच्छा संघ किया हुआ है ग्रह धातु से अनुग्रहित इच्छा अनुग्रह करने की इच्छा इच्छा को अनुजिग्रीक्षा होती है तृतीया तो अनुजिग्रीक्षा उन्हीं के ऊपर में अनुग्रह करना चाहते हैं निग्रह में अनुग्रह कृपा करना चाहते हैं वैद्य जो डॉक्टर जो चीरा पारी करते हैं वो अनुग्रह करते हैं या दंड देते हैं निग्रह करते हैं अनुग्रह करते हैं तो ईश्वर का जो दंड होता है हमारे ऊपर कृपा है हम गलत रास्ते में होते हैं तो अनुग्रह करते हैं यही है तब अनुजिक्षा देशान अंश लिख रहा होगा होने के ये अनुग्रह करने के लिए इच्छा से देवदेव में देवेद्यो अर्थाय उन देवताओं के लिए पेशाओं में इंद्रिय गोचर उन्हीं के इंद्रिय के सामने जहां इंद्रियों का विषय हो ना भी दूर या दूर नहीं नहीं तो खुशियाली बना रहे थे आतिशबाजी कर रहे थे ना भी दूर प्रादुर्भाव हुआ ज्यादा दूर में नहीं थोड़ा दूर है इंद्रियों का विषय हो रहा है बिल्कुल सान्निध्य भी नहीं है इसलिए तो अग्नि को भेजेंगे वायु को भेजेंगे इंद्र को भेजेंगे थोड़ा दूर है क्योंकि दिख रहा है बहुत बड़ा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति दिख रहा है अनुचितिक्षया एक नंबर टिप्पणी एक अनंतरम के फिर टिप्पणी करते हम यहां को डाला हुआ ही बात है इस भाषा में पहले तेभ्य पद नहीं रहा होगा बाद में सुधार दिया होगा अब वो टिप्पणी व्यक्त हो जाती है तेभ्य पद भाषा में डालने पर या भाषा में है तेभ्य है ठीक है तारा तेभ्य यदि पंडितव्य तेभ्य को पढ़ना चाहिए वहां पर है पाठ है नहीं बाद में डाल दिया गया है पहले शुरू मूल पुस्तक में तेभ्य पाठ नहीं होगा जिससे कि टिप्पणी नहीं पड़ी आगे भाषण में महेश्वर शक्ति माया में कैसे प्रादुर्भाव हो गया क्या महेश्वर की जो तो शक्ति है एक जादूगर की शक्ति इतने आश्चर्य में डाल देती है वो तो महेश्वर की शक्ति है महान चाशो ईश्वर महेश्वर का अंदाज समाज जो महान हो और सबका शासक भी हो उसको कहेंगे महेश्वर महेश्वर शक्ति जो महेश्वर की शक्ति है महामाया है माया वही शक्ति है हाँ, शारीरिक शक्ति नहीं उसके द्वारा उपात्यना गृहितेना अत्यंत अद्भुत है उसके द्वारा गृहित रूप से ग्रहण किया हुआ होता है अत्यंत आश्चर्य डालने वाले रूप के द्वारा प्रादुर्भूतम प्रादुर्भाव हो गया परमात्मा किला के रचित रूप विषय है कोई ना कोई रूप विशेष ले लिया है कोई ना कोई रूप विशेष बना लिया क्योंकि परमात्मा एक ही मनुष्य रूप में हमेशा नहीं आते हैं आपने देखा होगा दस अवतार एक सामान्य है न जाने क्या क्या रूप वही दिखाई पड़ते हैं किस समय में कौन सी व्यवस्था बनानी है उसके आधार पर योग धारण कर रहे हैं केवल योग विशेष है कोई योग विशेष के द्वारा प्रकट हो गए परमात्मा का न साकार रूप में दिखाई दिया निराकार थे अंतरिया रूप में थे बाहर साकार हो गया अपने माया के बल से बाहर दिखाई पड़े तब प्रमाणा भी देवा जब सामने परमात्मा हो गए फिर देवता नहीं जान पाए क्योंकि अज्ञान का पर्दा जब तक रहेगा यहीं पर परमात्मा कोई बैठा हो हम नहीं जान सकते सभी रूप परमात्मा के हैं हम अपने अंदर परमात्मा है परमात्मा में नहीं जान पा रहे क्यों माया के पर्दा हमारे सामने है ये कहा तब उम्र माना हो तब ब्रह्म वो ब्रह्म प्राप्त होते हुए भी सामने खड़ा होते हुए भी हाँ, देवाना बेजान ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म देवता भी नहीं जान सके अज्ञान और ज्ञान की महिमा है अब ज्ञान की महिमा के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए आगे उमा भगवती के रूप में ब्रह्म विद्या उपदेश करेगी अरे वो तो ब्रह्म था ऐसा उपदेश करेगी इसका तात्पर्य यही है केवलम अरे तब एक्शन थी एक्शन पूज्यम ऐसा उनको आश्चर्य हो गया कि ये बड़ा सम्मान्य व्यक्ति कौन है ऐसा आश्चर्य हो गया एक कहा ठीक है जयादि श्रेष्ठत्व निमित्तम माना निमाना विशेष जयादि श्रेष्ठत्व में निमित्त अपने को मानने वाले थे वो लोग किसको परमात्मा को नहीं कहा मैंने किया अच्छा काम होगा तो मैंने किया ऐसा होता है इसके साथ ऐसे गलत काम को छिपाता है कभी एक गिलास पानी पिलाया होगा किसी को तो बार बार तो आपको पता है क्या क्या पिलाएगा मैंने उस समय में आपको पानी पिलाया और किसके कितने उसको चोरी की होगी क्या किया वो नहीं बताया इसका स्वरूप एक स्वभाव ऐसा है तो अपने ही श्रेय मानने वाले ऐसे लोग थे वो जैविक सुरक्षा के लिए तो स्वयं शरीर को मानने वाले थे तो उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा ने सामने अवतार ग्रहण कर लिया एक स्वरूप में कहा आगे चलिए आगे मंत्र है ते अग्निम अब्रुवम जातवेद एतद्यानी इमे प्रयक्षन्ति तथेति ते अग्निम अब्रुवम जातवेद एतद्यानी इमे प्रयक्षन्ति तथेति तत् अब्दवत् हम अव्यवदत घोषीति अग्निर्वय अहमस्मीति अब्रवीत चातरेरा वै अहमस्मीति तद अव्यवदत हम अव्यवदत घोषीति अग्निर्वय अहमस्मीति अब्रवीत चातरेरा वै अहमस्मीति तस्मस्तये किं वीर्यम् इति अपीरम् सर्वम् दहेयम् शरीरम् प्रतिद्याति तस्मिस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीरम् सर्वम् दहेयम् शरीरम् प्रतिद्याति तस्मै कृणम्यदाहो यदेतक्षति अब तो दौड़ने दौड़ना है जितना था प्रथम मंत्र के वाक्य भाष्य में सब कुछ बोल दिया है अब तो कहना वैसे तो दौड़ने दौड़ना आपको पर राशि देखिए ते तर अजान को देवा ते देवा तर अजान तब ब्रह्म अजान उस ब्रह्म को न जानते हुए कौन है सामने खड़ा हो गया तेसाम प्रागुर्भव शब्द आया उसके सामने खड़े हैं उनके सामने तो तब जाओ तब तो ब्रह्म विद्या है पर नपुंसक लिंग है ब्रह्म शब्द नपुंसक है इसलिए तब कहा उसको न जानते हुए देवा शांतर है भीतर भय पैदा हो गया अभी अभी एक आपत्ति से बाहर निकले हैं बड़ी मुश्किल से अब दूसरी आपत्ति कौन आ गया है जो लोग होता है उसको भय हमेशा बना रहेगा दूसरे से छीनना तो चाहता है किंतु अपने से दूसरा न छीन ये भी चाहता है और दूसरा आएगा तो छीन सकता है भय होने लगता है विद्या वे भय होना तो अगर हम को देवा सांतर भया अंतर भया भय सहित शांत भय भीतर में भय है उनके अंतर में भय बना हुआ है ऐसे लोग हुए तब जिज्ञास हुआ उसको विज्ञा को इच्छा हुआ जिज्ञासा हुआ उसको जानने की इच्छा वाले है देवता अग्नि अग्नि को कहा क्योंकि यहाँ उनकी खुशियाली मंदिर बना रही है तो सामने थोड़ा दूर पर है वो तो अग्नि बहुत बड़े देवता हैं ये जरूर गुप्त जल के रूप में अग्नि भेजते हैं अग्निम अग्रगामिनम अग्रगामी है अग्रे नयती अग्नि अग्नि शब्द अर्थ ये होता है सबके आगे चलता है हमारे सनातन धर्म को यह परंपरा है गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्ट संस्कार तक पहले अग्नि चयन हो उसके बिना कोई न गर्भाधान संस्कार मिलेगी अग्नि का पहले हवन करेगा उसके बाद ही करेगा यहाँ की जो परंपरा ऐसी हमारी है जो सोलह संस्कार में आता है अभी देखिए मेरा कोई काम नहीं होता एक सन्यासी को छोड़ करके अंत्येष्टि की बाकी को अग्निदेय होता है सन्यासी की अग्निदान की परंपरा नहीं है अब कुछ कुछ आपत्ति में करने लग गए बात अलग है मरता क्यों नहीं करता वाली बात है किंतु ऐसी परंपरा नहीं क्यों जिसका मैंने सन्यासी मैंने नामी सन्यास की बात है ये जो हमारी परंपरा को बताए हैं हम दसवा ही संन्यास की बात करते हैं दूसरी संप्रदाय की बात नहीं है वहां क्या पैसा हम नहीं होते क्योंकि इसका बिरजा हवन हुआ होता है बिरजा हवन में सब कुछ हवन कर दिया जाता है उसका संन्यास के दिन ऐसी स्थिति होती है तो उसको कुछ भी रहेगा नहीं शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सबका हवन आहुति मैंने शास्त्र दृष्टि शिक्षा शरीर जल चुका है तो क्या जलाना है यही हमारे गुरुओं का ख्याल है उस परंपरा में यह है गर्भाधान संस्कार से लेकर सनातन धर्म की परंपरा बता रहा हूं गर्भाधान संस्कार भी हम कहते हैं जो महानुभ थे वो सुना रहे थे एक बार महेशानंद महाराज काशी गए तो आए बहुत बड़े पंडित थे तो उनके लड़के का शादी हो रखी है तो उनके घर में आज कुछ विशेष उत्सव मनाया जा रहा था पंडित जी के यहाँ तो लोगों ने पूछा क्या है बोले आज गर्भाधान संस्कार होना है इसके लिए पहले हवा था अभी भी ऐसे पंडित कुछ हैं जिससे द्वारा धर्मी टिकती है ये नहीं कि पूरे गलत से भी नहीं टिकेगी बिल्कुल सत्य से भी नहीं टिकेगी सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य है यहाँ ये जो व्यवहार होता है झूठ और सच मिलकर के होता है केवल झूठ की व्यवहार नहीं चला सकेगा केवल सच से भी नहीं होता है मिला करके होता है तो गर्भारण संस्कार से लेकर के अंतिम आहुति माने चीता में होनी है सब अग्नि में होना है इसलिए सबके आगे आगे चलता है गर्भारण संस्कार निर्दय से अंत्येष्ट तक आगे चलता है इसलिए नाम अग्नि अग्रे नैतिक अग्नि अग्नि बहुत बड़े देवता है ये कहा क्योंकि जिसके बिना सनातन धर्मावलंबियों का कोई कार्य होता ही नहीं यहां तक जो सन्यासी बनना चाहता है उसको भी अग्नि चाहिए उस समय क्या करना पड़ेगा हवन करना पड़ता है उसको भी अग्नि के बिना काम नहीं है हाँ, आगे अग्नि को तिलांजलि दे देगा क्योंकि उसके तो चाहिए अग्नि इतनी बड़ी देवता है तुषार तो भेजा हम भीतर में डरते हुए बहुत बड़े गुप्तचर को भेजा ये है केंद्रीय गुप्तचर है विजिज्ञास अग्रिम अग्रग्रामीण जो अग्रगामी है आगे आगे चलने वाले हैं जात वेदसम उनका एक विशेषण है जातानी सर्वानी वेद की जात वेदा जितने भी पैदा हुए हैं सबको जानते हैं अग्निदेव सबको जानने वाले हैं इसलिए उसका नाम जात वेद समय है सबको जानने वाला माने कुछ भी कर होना हो तो अग्नि के बिना होता नहीं सनातन धर्म में हवन किए बिना कोई कार्य होगा ही नहीं आपको तो दीक्षा लेनी हो कुछ करना हो ये करना हवन तो चाहिए ही चाहिए हवन के बिना कोई कार्य नहीं होता है आज हम अमर्यादित हो चुके हैं कुछ छोड़ चुके हैं बात अलग है तो जात अवय सम जात अवैध का ही होता है सर्वानी व्यक्ति जितने भी पैदा हुए हैं सबको जानता है क्यों पैदा होने वाले को अग्नि के बिना काम नहीं होना है इसलिए जात वेद समझ जात वेद अग्नि को सर्वज्ञ कल्पन वो सर्वज्ञ के समान सर्वज्ञ तो परमात्मा ही है किंतु कल्प प्रत्यय कब लगता पता है ईश्वर पूर्ण आधन है कम थोड़ा सा कम सर्वज्ञ में एक दो अंक कमी है हम्म, नहीं फर्स्ट नंबर लाने में एक दो अंक कम हो गया द्वितीय में चला गया उसको कहेंगे सर्व कल्पम कल्प प्रत्यय तीन प्रत्यय होता है कल्पम देश देशीय आपके जागरण में सूत्र है ईशद असमाप्त हो कल्प देश से देशी है बहुत दूरी में नहीं होगा जिसको उन्नीस बीस का फर्क बोलते हैं लोग में जरा सा फर्क है उसको कहेंगे विद्युत कल्प या कहा सर्वज्ञ कल्प कहा सर्वज्ञ के समान है वो सर्वज्ञ तो नहीं है सर्वज्ञ तो परमात्मा ही है सर्वज्ञ के समान जो अग्नि है उसको सब जानता है वो यक्ष को जरूर ये पता लगाएगा ऐसा सोच है देवताओं तो सर्वज्ञ समान है वो सर्वज्ञ कल्पम अग्रवान देवताओं ने कहा उक्तवंत क्या कहा हे जातवेद हे जातवेद संबोधन करके कहा बहुत बड़ा विशेषण है जातवेद आप सबको जितने पैदा होने वाले सब जानते वो भी पैदा हो रखा है उसको समझ के आ जाओ यही है उनका ये विशेषण लगाने का तात्पर्य अभी सामने अभी भी हुआ है वो एक अस्मत गोचरस्तम यक्षण ये जो तो सामने हमारे इंद्रियों का विषय बना हुआ जो यक्ष है कुछ व्यक्ति है जानी ही विशेष है जानी ही विशेष रूप से जानो क्या है बच्चे है क्या अपने शत्रु तो नहीं है फिर विशेष हो बुद्धस्व ये अर्थ जाने ये विशेष रूप से ध्यान तुम न तेजस्वी अस्माकम मध्य न अस्माकम तुम तेजस्वी हमारे बीच में आप सबसे बड़े तेजस्वी हो सबसे बड़े जानकार हो हमारे बीच न अस्मागम ष्ठी बहुवचन अस्माकम की जगह पर न साबिश हुआ है बहुवचन से बस सौ तुम तेजस्वी आप बड़े तेजस्वी हो आप पता जरूर लगाओगे किम एक ये क्या है पता करोगा तथा अस्तु अभी ने कहा ठीक है कौन सी बड़ी बात है मैं जात तो मेरा जो हूं जितने पैदा हुए सबको जानता हूं ठीक है जरूर करूंगा तब यक्षम क्षण अभ्यद्रस्त अद्वितीय मंत्र का अर्थ करते हैं तब अभ्यद्रव तब मैंने यक्षम द्वितीय देकर उस एक की तरफ चला गया अग्नि का तब प्रतिकरण उस एक में प्रति चला गया यह तब अभ्यद्रव तो धातु है अभ्यद्रवत चला गया निष्कृत तो हो गया यक्ष के तरफ चला गया जाने के लिए कहा तम से कथम हम तम कृत्य शिशु वो पूछने के लिए गया था किंतु वहां पहुंचने पर सुख हो गया जैसे सूर्य के सामने दीपक की स्थिति हो जाती है दीपक नहीं सूर्य को पता लगाने के लिए चल पड़े क्या क्या स्थिति होगी स्वयं सूर्य पता लगाएगा उसको ये स्थिति हो जाती है तम जगतवंतम तम अग्नि गतवंतम अग्नि जाने वाला जो अग्नि है पता लगाने है लिए कि पृथ्वी पूछना चाहता था तुम कौन नहीं पूछना चाहता इसलिए कह रहा है वो गुप्त जब पता लगाने के लिए जाता है तो तब पे उसके समीप में जब पहुंचा उस ब्रह्म के समीप में पहुंचा तो अप्रगलभत हुआ तेज रहित हो गया सारे तेज खत्म निस्तेज हो गया क्योंकि यदादित्य कदम तेज तेजो चित्रभाषा तेजम यद अच्छा हो तब तेज हो मान ये उदार खाते हैं सब मेरे से तेज लेकर के बड़े पूज्य बन के घूम रहे हैं अगर मैं निकाल दू अपने तेज लूं तो उसने जैसे अभी यहां लगने की स्थिति हो जाएगी ये कहा तब समीप का माने तेजहीन होकर के होने से पुष्टि भूतम चुपचाप होकर अग्नि क्या करता है तो चुप होने वाले अग्नि को पूछता है पुष्टि भूतम अग्नि में तम अब्दगढ़ यहाँ पद अव्यक्त तद यक्षम अव्यतवत नहीं है ये पहले हो चुका है ये पाठ दोबारा आ गया तम अव्यवत ऐसा पाठ होना चाहिए उस अग्नि को पूछा किसने पूछा उस यक्ष ने पूछा तम अव्यवत उसको पूछा अग्नि को पूछा अग्नि प्रति अभाषक ब्रह्म ने अग्नि के प्रति पूछा कहा क्या कहा वो सीधी तुम कौन हो ऐसा अग्नि को पूछा माने ये पूछने गया कि तो ये तो चुपचाप हो गया गुंगा बन गया यक्ष ने पूछा होश कौन हो तुम एवं ब्रह्मा पृष्ठ अग्नि अग्रवेद इस प्रकार ब्रह्म के द्वारा पूछा गया अग्नि ने उत्तर दिया अग्निर्वयी मैंने बई लगा के बोला प्रसिद्धि का देवता बोला दही सब मैं छोटा मोटा गुप्तचर नहीं हूं बहुत बड़ा हूं अग्निर्वयी मैंने अग्निनामा हम मैं अग्निनामा वाला मेरा नाम अग्नि लोग में प्रसिद्धि है अग्नि करके अग्निनामा हम प्रसिद्ध हो जात प्रसिद्ध हूं जात वेद हूं मैं मैंने अग्नि और विशेषण है जात वेदा जात वेद विशेषण है नाम वेद प्रसिद्धतया दो नाम मैं ऐसा हूं डॉक्टर हूं महात्मा हूं भी ऐसा बोलते मैं डॉक्टर हूं ऐसा अरे डॉक्टर यदि पहले करता था कौन सा दवा भी तो बिकारी है तू फिर भी लोग अभिमान तो आत्मान श्लाघयन मैं अपने दो नाम के द्वारा अपनी प्रशंसा करते हुए अग्नि की अपनी प्रशंसा अपना शरीर की प्रशंसा करते हुए ऐसे बोलने लगे मैं जरा रहा हूं अग्नि हूं छोटा मोटा नहीं हूं ऐसा कहा इतने इतम उपबंधन इस प्रकार से जब अपना परिचय दिया अग्नि ने पूछने पर तब उस एक को यक्ष पूछते हैं एवं उपबंधन ब्रह्म अबोधक ब्रह्म ने पूछ सकता तस्वीर एवं प्रसिद्ध गुण नाम होती प्रसिद्ध दो गुण प्रसिद्ध गुण वाले दो नाम है तुम्हारे पास जात जरा अग्नि ऐसे तुम में में वही किम वीरियम किम सामर्थ्य क्या शक्ति है तुम्हारे ऐसे नाम तो बहुत बड़ा बताया दो दो नाम बताया क्या शक्ति है तुम्हारे में वीरियम है सामर्थ्य शक्ति शारीरिक शक्ति क्या है तुम्हारे पास पूछा सो अवधित स अग्नि अवधित अग्नि ने कहा उत्तर दिया क्या इलाम जगत सर्वम है भस्मी की ये सारा जगत को मैं भस्म कर सकता हूँ मेरे में सामर्थ्य पूर्व स्व समस्त लोग दर्द कर सकता हूँ मेरे में ऐसी शक्ति अग्नि बहुत कुछ काम कर रहा है एक चिंगारी ज्यादा जरूर नहीं एक चिंगारी बहुत कुछ काम कर रहा ये हम जगत सर्वम दहे हम भस्मी कुरियाम ये संपूर्ण जगत को मैं दहा दहा भस्मी कर रहे दहा धातु भस्मी करना है जलाने वाले हैं तो दहे हम पितृ मैं जला सकता हूं मेरे सामर्थ्य है भस्मी कुरियाम का भस्मी कर सकता हूं भस्म बना सकता हूं यदि कम स्थावरा आदि पृथ्वी जो जो कुछ भी पृथ्वी में स्थावर जन्म जो पत्थर को भी मैं जला के राह बना सकता हूं सबको स्थावर जन्म सबको मैं जला सकता हूं ये मेरे सामर्थ्य है ऐसा परिचय दिया बहुत बड़पन अपना परिचय ऐसा दिया पृथ्व्या में जो उपलक्षण हो केवल पृथ्वी में जो कुछ है ये नहीं संपूर्ण जगत की बात है ये यह तो अंतरिक्ष स्तम अति दह्य जब यहाँ आग लगती है तो ऊपर में भी कीड़े पतंगे होंगे तो अंतरिक्ष वाले भी मर जाते हैं वो भी जलाते है अग्नि तो सभी को लेना है खाली पृथ्वी को नहीं लेना या तो जिससे कि अंतरिक्ष स्थम अभी अंतरिक्ष में स्थिर जो होते हैं जब बड़ी ज्यादा होगी तो ऊपर की पक्षियां भी मर जाती है एक जहां दह्य एवं बिना अग्नि बनाया जाता है तस्मय एवं अभिमान होते उस प्रकार अभिमान है दो दो विशेषण अपने लगा के बोलता है मैं अग्नि हूं जात वेदा हूं मैं अग्नि नाम में क्या गुण है कहा ये गुण है मैं संपूर्ण लोग को एक साथ भस्म कर सकता मैं चाहूं तो ऐसा कहा ऐसे अभिमान वाले के लिए ब्रह्म प्रणाम ने ददा तो एक सूखा हुआ का रख दिया सामने एक का रख दिया पूर्व अग्नि पूर्व ने सामने अग्नि के सामने तीन का ब्रह्म ने रख दिया और स्थापित निधरव का स्थापित ब्रह्म एक प्रणम मम अग्रतो धरा मेरे सामने तीन का पढ़ा पहले इसको जलाओ बाप को तो बड़ी बड़ी कह रही मैं सारे जगह को जला सकता हूं पहले इसको जला दो एक का है सुखा हुआ का है सामने ममागत मेरे सामने जलाता नचेत अश्य दर्दम समर्थक इसको जलाने में सामर्थ्य यदि न हो तो अनुमान छोड़ दें जो अभिमान लेके घूम रहे दो विशेषण लेके बहुत बड़ा अच्छा होता है मैंने व्याकरणाचार्य किया है मैंने वेदांताचार्य किया है बहुत बड़ा अभिमान होता है कम नहीं बहुत बड़ा अभिमान अभिमान सुधापान हो सका है अभिमान जो करना है तो मदिरा है बिगड़ने के लिए मदिरापान किसके लिए होता है बिगड़ने के लिए अभिमान बिगड़े अभी अग्नि के अभिमान कैसे जाना है न फिर कर्तम असमर्थ यदि तुम जला नहीं सकोगे स्त्री वो मुंश तंत्रित्वाभिमान अभिमान फिर त्याग देना इस मैं जलाता हूं करके इस अभिमान को त्याग देना आज के बाद इस दिन के तो जलाओ तो मैं मान जाऊंगा परमात्मा ने कहा क्यों परमात्मा की शक्ति है यदाद जगतम तेज ये सब उदाहरण लेकर के काम कर रहे हैं और परमात्मा अपने मूलधन ले लेते तो क्या कर पाएंगे लोहा जलाती है जरूर जलाएगा किंतु अग्नि संबंध हो तभी तो नहीं तो कहा जला सकते सर्वत्र सर्वत्र अभिमान क्या है आगे किसी भी प्रकार नहीं कर तीन के को नहीं जला सको मुझसे सर्वत्र अभिमान सभी जगह में अभिमान त्याग है ऐसे प्रमाण कहा यदि उपा ऐसा प्रमाण के द्वारा कहा गया अग्नि तब त्रिणम उपप्रेय उस दिन के लिए समीप चला गया अग्नि उसको जलाने की क्या बड़ी बात है जब सारे लोगों को जलाने में सामर्थ्य का जलाने में क्या आपत्ति है उपरे आया समीप में चला गया तीर्थ समीपम गतवान सर्व जलेगा जिसे सारी शक्ति जलवान शक्ति सारी शक्ति लगा करके गया क्यों सर्व पड़ा हुआ है हम्म, सर्व जलेगा सर्व उत्साह सारी शक्ति सारी जितने भी उत्साह है अपना सब झोंक दी उसमें वेग करता वेग से गया एक तिनके को जलाने के लिए बहुत बड़ा बम की तरह गया गतवा न ससागर जलाने में समर्थ नहीं हुआ ना सतम दब्धुम का जलाने में समर्थ नहीं रहा स जहां पर रहा वो भी मैं अग्नि जलाने से सका उस अग्नि को तीर्णम दब्धुम हो उस तिनके को जलाने में जो असमर्थ हो गया तो पीढ़ी का लज्जित हो गया बड़ी बड़ी बातें कर दी थी अब एक दिन का नहीं चला पा रहा है ब्रीडी का लक्ष्य कहा अर्जुन हतक प्रतिज्ञा जिसने प्रतिज्ञा क्या की थी मैं चाहूं तो संपूर्ण लोगों को भस्म कर सकता हूं प्रतिज्ञा अब एक तीन का भी नहीं चला हत प्रतिज्ञा हो गया हता प्रतिज्ञा ये सर हत प्रतिज्ञा जिसके प्रतिज्ञा नष्ट हो गई हत प्रतिज्ञा अग्नि तथा एवं यक्षा एवं वहां से तथा एवं शब्द उस यक्ष से तुष्टिम देवान निवृत्त चुपचाप होकर के देवताओं के तल चला गया निवृत्त निवृत्त हो गया प्रति प्रतिकर्मान देवताओं के प्रति चला गया देवता ने पूछा क्या बात है तो कहा नैतर यक्षम असकम सप्तमान हम विज्ञान मैं जानने में समर्थ नहीं रहा आज तक ऐसा फेल कभी नहीं हुआ था ये पहली बार जिंदगी की है यही उसने उत्तर दिया कि न ये तर यक्षम असकम सत्यमान न सप्तमान अहम विज्ञान हूं मैं जानने के लिए समर्थन नहीं शिक्षक हो विशेष सामान्य तो जान रहा हूं एक व्यक्ति है वो सामने है विशेष जान नहीं पाए कौन है क्या है कैसा है विशेष यदि एक्शन ये जो व्यक्ति कौन है मैं जान नहीं सका ये कहा अच्छा। ठीक टीका में कहते हैं तृतीय खंड शेष भाष्यम स्पष्टम अतो न विद्वान कहते हैं ये खंड में जितने भाष्य स्पष्ट है टीका लिखने की आवश्यकता नहीं है टीकाकार ऐसा बोलते हैं समय हो चुका है और ज्यादा भी हो गया ओम आप्यायन्तु ब्रह्मया मामा ब्रह्मया आत्मनिर्णये योगनिषत्सुधर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु